अनोशो टॉक नए भारत का जन्म नंबर फोर आज रात गए तब उन्होंने शराब की सिर बाहर निकले चांद को देखकर उनके मन में ख्याल आया कि चले नदी पर नौका विहार करें वे नदी पर गए मछली अपनी नावें बांधकर घर जाते थे उन मित्रों ने एक बड़ी नाव चुनी पतवारें खोली नाव को फेरना शुरू किया नशे में पुत्र थे चांद की रात थी मौन में थे गीत गाने लगे पतवार चलाने लगे जोर से उन्होंने पतवार चलाई नाव के पता नहीं कितनी देर तक नाव गिरते रहे कितनी दूर तक जब सुबह की हवाएं बहने लगी और नशा कुछ उतरा तो ख्याल आया न मालूम कितने दूर निकल आए हो अब वापस लौट चलना चाहिए कहा किसी एक ने के ऊपर से देख लो हम किस दिशा में चले आए हैं क्योंकि नशे में चलने वालों की पीड़ा का कोई काम नहीं कोई ठिकाना नहीं हम पूरा आए कि पश्चिम हम अपने गांव से कितने दूर है कुछ पता नहीं एक मित्र नीचे उतरा और जमीन पर खड़ा होकर हंसने लगा दूसरे मित्र ने पूछा हंसते हैं क्या हुआ उस मित्र ने कहा तुम भी उतरो और हंसोगे एक एक करके उतरे और वो किनारा हंसी से घूमने लगा क्या हो गया था पास पड़ोस के सोए लोग भी जाग कर भीड़ लगा लिए पूछने लगे क्या हो गया पागल हो गए हो पागल होने जैसी बात हो गई कि नाव वहीं खड़ी थी जहां रात उन्होंने उसे पाया असल में नाव की जंजीर किनारे से छोड़ना में भूल गए थे नाव किनारे से पतवार भर चलाने से नाव नहीं चलती है किनारे से जंजीर की छूट जानी जरूरी है समाज की जंजीर अगर किनारे से बंधी हो तो समाज में क्रांति नहीं हो सकती और समाज की नाव जंजीर से बंधी है बहुत जोर से लेकिन जंजीरें इतनी पुरानी हैं और नाव सदा से बंधी है कि हम भूल भी गए हैं कि जंजीरें क्या हैं और नाव क्या है नाव और जंजीर एक ही शैली के हिस्से मालूम पड़ने लगे जंजीर को शायद हम नाव का आभूषण समझते हैं शायद नाव की सजावट समझते हैं श्रम बहुत करते हैं बहुत परिवार चलाते हैं लेकिन समाज की जिंदगी कहीं आगे जाती हुई मालूम नहीं पड़ती वो वहीं खड़ी है वहीं खड़ी रहती है हजारों साल से वहीं खड़ी भारत के समाज में हजारों साल से कोई यात्रा नहीं की लेकिन श्रम तो हमने बहुत किया है पर वहां तो हमने बहुत सी जंजीर किनारे से बंधनी वो कौन सी जंजीर है अगर उसे हम न पहचान सके तो भारत के समाज की नाव कभी भी आनंद सागरों की यात्रा में नहीं जा सकेगी जहाँ जीवन के खजाने जहाँ सत्य के खजाने जहाँ आनंद के खजाने उन अनंत छोरों को भी भारत का समाज नहीं छू सकेगा कभी जहाँ खुशी है जहाँ गीत है जहाँ नृत्य लेकिन पहले जंजीर को पहचान लेना जरूरी है जंजीरें भी बहुत पुरानी हो तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है बीमारी भी बहुत दिन चल जाए तो आदमी उसी बीमारी को स्वास्थ्य परोसने लगता है मैंने सुना है एक मछुआ राजधानी में मछलियां बेचने आया था दोपहर तो में मछलियां बेच के जब वो वापिस लौटने लगा तो उसने सोचा कि कभी राजधानी में नहीं आया हूँ आज थोड़ा राजधानी घूम कर देख लू पैसे भी थे इनका भी गर्व था राजधानी देखने में कमल हुआ और राजधानी के बड़े बड़े राजपथों से गुजरा फिर वो उस गली में प्रविष्ट हुआ जो उस राजधानी के सुगंध बेचने वालों की गली परफ्यूम बेचने वाले लोगों की दुकानें उस राजधानी में दुनिया के श्रेष्ठतम सुगंधें बिकती थी मुझे सुगंध वाली गली में प्रवेश हुआ उसे बहुत घबराहट होने लगी बहुत दुर्गंध आने लगी क्योंकि वो एक ही सुगंध जानता था मछलियों की और उसे किसी सुगंध का कोई पता न उसे बाकी सब में पता से दुर्गंध मालूम होती रही वो बहुत हैरान हुआ कि राजधानी के लोग कैसे पागल हैं ये क्या दुर्गंध देखने की दुकान लगा रखी है और जैसे जैसे उस गली में भीतर प्रविष्ट हुआ वैसे बड़ी दुकानें थी ज्यादा कीमती सुगंधें थी सारी हवाएं सुगंध से डूब रही थी उसने अपनी नाक पर हाथ रख लिया किसी तरह भागने लगा निकल जाए बस्ती के बाहर इतनी घबराहट होने लगी भागने में घबराहट में दौड़ने में पसीना भी आया सुगंध भी आई वो बेहोश होकर गली पर गिर पड़ा पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए दुकानदार इकट्ठे हो गए जो दुकानदार अपनी तिजोरियों में से कीमती से कीमती सुगंधियों ले आए उसे सुनाने को भी होश आ जाए उन बेचारों को क्या पता कि वो सुगंध से ही बेहोश और परेशान वे उसे सुगंधे उसके नाक पर छिड़कने लगे कपड़ों पर वो आदमी बेहोशी में हाथ पैर पटकने लगा सिर पटकने लगा उसके प्राण छटपटा रहे हैं भीड़ इकट्ठी हो गई किसी की समझ में कुछ भी नहीं आता तब एक आदमी भीड़ तस्वीर से बाहर आया वो आदमी पहले मछुआरा चुका था उसने कहा ठहर जाओ तुम उसकी जान ले लो तुम ये क्या कर रहे हो तुम ही उसे बेहोश कर रहे हो मछुए की गिर गई थी टोकरी नीचे वो कपड़ा जिसमें मछलियां बांध कर लाया था उस दूसरे मछली ने पानी छेड़कर टोकरी पर कपड़े पर उस टोकरी और कपड़े को बेहोश मछली की नाक पर रख दिया उसने गहरी सांस ली आंख खोली और कहा दिस इज रियल परफ्यूम ये है असली सुगंध ये दुष्ट मेरी जान लिए लेते थे कौन आ गया है जिसने मुझे बचा लिया दुर्गंध भी बहुत दिन सांस रहे तो सुगंध मालूम पड़ने लगती है बीमारियां भी बहुत दिन शांत रह जाए तो स्वास्थ्य बन जाती है तो जंजीरें भी बहुत दिन बड़ी रह जाए तो आभूषण हो जाती है भारत की नाव में एक खतरनाक जंजीर बंधी है जो आभूषण बन गई है शास्त्र उसकी प्रसन्नता करते हैं गुरु मंदिरों में मठों में बैठकर उसके गुणगान गाते हैं नेता और समझदार जिनको कहे वो उसकी प्रशंसा करते हैं उसी जंजीर की जिसकी वजह से भारत की जिंदगी किनारे से बनी रह गई वो जंजीर क्या है उस जंजीर का नाम है श्रद्धा उस जंजीर का नाम है विश्वास उस जंजीर का नाम है बिलीफ भारत का व्यक्तित्व क्रांतिकारी नहीं हो सकता क्योंकि भारत के व्यक्तित्व को बांध दिया हमने विश्वास की खूबी से क्रांति आती है विचार से विश्वास विचार की हत्या क्रांति आती है विचार से विचार है विद्रोह विचार में छिपा है विभंजन जब विचार पैदा होता है तो विप्लव हो जाता है जब विचार पैदा होता है तो जिंदगी आगे बढ़ जाती है क्यों क्योंकि विचार अंधा नहीं होता विचार के पास आंखें होती है और विश्वास अंधा होता है विश्वास के पास कोई अपनी आंख नहीं होती विश्वास दूसरे को मानता है और जो दूसरे को मानता है वो कभी क्रांतिकारी नहीं हो सकता विश्वास अतीत को मानता है जो जा चुका बीत चुका विश्वास की श्रद्धा हमेशा अतीत में होगी विश्वास पकड़ जाता है बीते हुए चरणों को विश्वास हमेशा अतीत उन्मुख होता है क्रांति सदा भविष्य उन्मुख होती है इसलिए विश्वास और क्रांति के बीच कर्मी कोई संबंध नहीं हो सकता विश्वास करने वाला आदमी प्रतिगामी होता है विवेक्षणीय होता है विश्वास करने वाला आदमी अंधे की तरह अतीत से चिपका रहता है विचार ले जाता है भविष्य में विचार ले जाता है क्रांति में भारत में कोई क्रांति कभी नहीं हो सकती और आगे भी नहीं हो सकेगी अगर विश्वास का जहर ही हम अपने बच्चों को खिलाया चले जाते हैं विश्वास क्या कहता है विश्वास कहता है खुद मत सोचना विश्वास कहता है कि स्वयं सोचने की जरूरत नहीं जो भी सोचा जाने योग्य था वो सोचा जा चुका है ऋषि महर्षि महात्मा उस सबको सोच चुके हैं अब सबको कोई श्रम करने की जरूरत नहीं जो उन्होंने कहा है चुपचाप उसे स्वीकार कर लेना और अगर उसमें संदेह आता है तो ध्यान जाओ भटक जाओगे अगर संदेह किया संदेह किया तो नरक जाओगे संदेह किया तो जिंदगी खोलोगे संदेह मत करना और आपको पता है जो संदेह नहीं करता वो कभी विचार नहीं करता संदेह विचार की करनी सीढ़ी है डाउट संदेह विचार का पहला कदम जो आदमी संदेह करता है वो विचार करता है क्योंकि संदेह करने वाले को विचार करना ही पड़ता है विश्वास करने वाले को विचार करने की क्या जरूरत मैंने सुना है एक छोटे से गांव में एक सुबह एक बड़ी अद्भुत घटना करके हो सकता है आप भी उस गांव में रहे हो क्योंकि हिंदुस्तान के सब आदमी उसी गांव में रहते उस गांव में एक छोटा सा विचारक था वो विचारक सुबह ही सुबह गांव के तेली की दुकान पर तेल खरीदने गया तेली के सामने जाकर उसने बर्तन रख दिया कि मुझे तेल दे दो उससे तेल लगा उस विचारक ने देखा कि तेरी की पीठ के पीछे कोई चल रहा है कोई कोई बैल चला रहा है लेकिन उस बैल को चलाने वाला हाथने वाला कोई भी नहीं वो विचारक बहुत हैरान हुआ उसने कहा कि मां से दुकानदार से कहा मां से ये इतना धार्मिक बैल आप कहाँ से पा गए बिना किसी चलाने वाले भी चल रहा है ऐसा चमत्कार तो हिन्दुस्तान में बिल्कुल नहीं होता चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जब तक पीछे कोई आंकने वाला ना हो कोई चलता ही नहीं तो ये बैल कहां मिल गए किस नस्ल का बैल इतना धार्मिक बैल पा कहा गए इस हिन्दुस्तान में ये बेड़े चलाने वाले की चल रहा है तेजी हंसने लगा उसने का बैल नहीं चल रहा है बैल का मालिक चला रहा है और उस विचारक ने कहा आप तो बैठे हुए उसने कहा मालिक को चलाने के लिए मौजूद होना जरूरी नहीं इस तरह का तंत्र बनाया जा सकता है कि बैल चलते रहे और मालिक अपना काम करता रहे उस विचार ने कहा वो तंत्र तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता कौन चलाता हुआ नहीं मालूम पड़ता है उस तेली ने कहा जरा बुद्धि से काम लो देखते नहीं बैल की आंख पर हमने पट्टियां बांधी बैल की आंख पर पट्टियां बनी और उस तेंदुए का बैल की आंख में उसे पता भी नहीं चलता कि कोई चलाने वाला पीछे है या नहीं उस तेंदुए का ज्ञान रहे जिसका शोषण करना हो पहले उसकी आंख पर पट्टी बांध देना जरूरी होता है उस विचार करने का बात तो तुम पते ही कहते हो मैंने भी बहुत सी आंख पर पट्टी बने हुए लोग बैठे और उन्हें समझ गया कि जरूर कुछ लोग शोषण कर रहे होंगे कि यहाँ की प्रतियां बांधी लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ बैल कभी खड़े होकर भी तो पता लगा सकता है कि पीछे कोई है या नहीं उस तेली में का महाश है अगर बैल में की बुद्धि होती तो हम गोलू चलाते बैल तेल बेचता आप देख नहीं रहे सुन नहीं रहे कि हमने बैल के गले में घंटे बांध रखी जब तक बैल चलता रहता है घंटी बरती रहती हम जानते हैं कि बैल चल रहा है जैसी घंटी रुकती है बैल खड़ा हुआ कि तो हमने छलांग लगाई पीछे गया और बैल को हाँका बैल को पता ही नहीं चल पाता कि पीछे कोई मौजूद नहीं था घंटी बंद होते ही हम हाँकने के लिए मौजूद हो जाते विचारक भी जिद्दी था और विचारक जिद्दी होते हैं उस विचार में का वो निकल गया घंटी मुझे सुनाई पड़ रही लेकिन बैल कभी खड़े होकर सिर नहीं हिला सकता कि घंटी बची रहे उस तेली ने कहा महाराज थोड़े धीरे बोलो बैल कहीं सुन रहे हमारी जान और आगे से कोई कहीं और खरीद खरीदे नहीं महंगा धंधा ऐसे आदमी को आना जाना चीज नहीं सौ वर्ष का असर पड़ता है मैंने जब ये कहानी सुनी थी तो मैंने हैरान हो गया मैंने कहा उस तेरी के पास बड़ा अद्भुत दल था क्योंकि भारत में जो आदमी है उसके कानों के पास गंगा पीट कर बजाओ वो नहीं सुनता गन कैसे सुन सकता आदमी नहीं सुनता इस मुल्क में गन कैसे सुन सकता आदमी की आंख पर भी विश्वास की पट्टियां हैं और आदमी की जिंदगी पर भी विश्वास का शोषण यंत्र है न धर्मगुरु चाहते हैं न राजनेता चाहते हैं कि आदमी सोचे दुनिया का कोई भी शोषक नहीं चाहता कि आदमी विचार करे क्योंकि जैसे भी आदमी विचार करेगा शोषण के सारे यंत्र तत्म नष्ट कर दिए जाएंगे जैसे ही आदमी विचार करेगा समाज की हजारों साल से चलती हुई दुनिया तोड़ भी जाएंगी जैसे ही आदमी विचार करेगा वैसे ही आदमी को गुलामी में रखना असंभव है आदमी को गुलाम रखना हो आदमी की आत्मा को कारागृह में रखना हो तो सबसे बड़ी जरूरत की बात है उसकी विचार की आंख मत खोलने देना उसे विश्वास खिलाना विश्वास में पालना और विश्वास में बड़ा करना छोटे से बच्चे को हम विश्वास दिलाना शुरू कर देते हैं निरी बच्चों के साथ जो अत्याचार किया जाता है विश्वास देकर उसका हिसाब लगाना कठिन क्योंकि जब उनके भीतर विचार की आत्मा ही नहीं जगती सभी हम उनके भीतर विचार विश्वास की में ठोकना शुरू कर देते हैं हिंदू बाप बेटे को हिन्दू बनाना शुरू कर देता है मुसलमान बाप बेटे को मुसलमान बनाना शुरू कर देता है ईसाई बाप बेटे को ईसाई बनाने लगता है इससे पहले कि उसमें विचार जगे विश्वास भर देना जरूरी है अगर विचार जग गया तो फिर किसी बच्चे को हिंदू मुसलमान और ईसाई बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस तरह की बीमारियां विचार स्वीकार करने को राजी नहीं हो सकता इसलिए विचार आए उसके पहले ही निर्बोध अबोध बच्चों में भर देना विश्वास इसलिए सारे लोग उत्सुक रहते हैं कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चे हिंदू बन जाए मुसलमान बन जाए ईसाई बन जाए इन बीमारियों से पृथ्वी तो परेशान हो गई है लेकिन इन बीमारियों को जारी रखने की तरकीब अब भी जारी है वो बंद नहीं होती कोई बच्चा हिंदू की तरह पैदा नहीं होता कोई बच्चा मुसलमान की तरह पैदा नहीं होता लेकिन इसके पहले कि बच्चे को होश आए उसे जंजीरें पहना दी जाती और वो जिंदगी भर ये कहेगा कि मैं हिंदू हूँ गौरव के साथ इसलिए मैं कह रहा जंजीरों को हम आभूषण समझ रहे हैं जो आदमी कहता है गौरव के साथ में हिंदू हूं वो आदमी पागल है जो आदमी कहता मैं मुसलमान हूं मैं जैन हूं वो आदमी पागल है क्योंकि उसे पता नहीं कि वो क्या कह रहा है चेतन की गुलामी को गौरव समझ रहा है मनुष्य सिर्फ मनुष्य है और मनुष्य को बांधने वाली सारी जंजीरें खतरनाक लेकिन जंजीरें सब तरफ बांधी जाती हैं हिंदुस्तान में भी और रूस में भी और अमेरिका में भी हिंदुस्तान में हिंदू होने की जंजीर बांधी जाती है रूस में कम्युनिस्ट होने की जंजीर बांधी जाती है लेकिन बचपन से बांधी जाती है कि कहीं रोज आ जाए और आदमी बिगड़ न जाए मेरे एक मित्र रूस गए उन्नीस में एक छोटे से बच्चे से में उन्होंने पूछा कि ईश्वर है उस बच्चे ने है था अब है कहां उन्नीस सौ सत्रह के पहले हुआ करता था क्रांति के बाद कहा ईश्वर है अब ईश्वर नहीं है छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ईश्वर नहीं है नास्तिकता है छोटे से बच्चों को जहर वहां भी डाला जा रहा है वो नास्तिकता का जहर है हम यहाँ जहर डालते हैं आस्तिकता का हिंदू का मुसलमान का जैन का ये सवाल नहीं है बच्चे को बिना उसकी समझ को विकसित किए जो भी हम उसके भीतर भर देते हैं वो सब उसको आंख को पट्टी मानने वाला सिद्ध होता है आस्तिक भी हो नास्तिक भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सिखाते हैं ईश्वर का होना या ईश्वर का न होना ये सवाल नहीं है आप बच्चे को जो भी विश्वास की भांति सिखाते हैं जिसे बच्चे के विचार की ऊर्जा से जो निष्पन्न नहीं होता है जो बच्चे के विचार और तर्क से सिद्ध नहीं होता जो बच्चे की चेतना का साक्षात नहीं बनता वो जो भी आप सिखाते हैं उसकी आंख को पट्टी बांधने वाला सिद्ध होता है और में इतनी मजबूत हैं कि बांध दी जाए तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती हमें ख्याल नहीं आता एक आदमी कपड़े के टुकड़े को झंडे पर लगाए हुए और कहता है ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है अगर ये नीचे झुक गए हम अपनी जान दे देंगे अब आदमी पागल में थी कपड़ों के टुकड़ों के लिए जान दे सकता है कपड़ों के टुकड़ों के लिए चीखों के लिए कोमें मर सकती है हजारों लोगों की हत्या हो सकती है क्योंकि किसी का झंडा नीचा हो गया आदमी को देख के ऐसा शक होता है कि आदमी में बुद्धिमानी नाम की कोई चीज है या नहीं कपड़ों के टुकड़ों के आदमी की जान लेने का विचार करता है लेकिन नहीं बचपन से अगर सिखा दिया जाए ये जहर के राष्ट्रीय झंडा है इसका ऊंचा होना ही सब कुछ है इतना ऊंचा ना हो जाए तो ये जहर दिमाग में रह जाएगा और आदमी को कभी पता भी नहीं चलेगा कि सिर्फ कपड़े का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं लेकिन अगर विचार दुनिया में पैदा होगा तो एक राष्ट्रीय झंडा लेके सरकार कपड़े के टुकड़े रह जाएंगे और अगर विचार दुनिया में पैदा होगा तो न भारत रह सकता है न चीन न पाकिस्तान क्योंकि जमीन कहीं से भी बची नहीं है सिवाय राजनीतिज्ञों की शरारत के जमीन को बांटने का कोई भी कारण नहीं जमीन को खंड खंड टुकड़ों में बांटा हुआ है क्यों क्योंकि जब तक जमीन खंड खंड बची रहेगी तभी तक जमीन पे झगड़े चल सकते हैं और जब तक झगड़े चल सकते हैं तब तक राजनीति की पूजा हो सकती है जिस दिन झगड़े बंद हो जाएंगे राजनीतिक की मृत्यु हो जाएगी दुनिया में जब तक युद्ध है तब तक पॉलिटिशियन रहेगा जिस दिन दुनिया में युद्ध खत्म उसी दिन पॉलिटिशियन भी गया क्योंकि पॉलिटिक्स सिवाय युद्ध के खेल के और कुछ भी नहीं लेकिन ये युद्ध चलेगा क्योंकि जमीन को टुकड़ों तो में बांटा गया उन्नीस सौ के पहले कराची में जो बच्चा पैदा होता था वो तुम्हारा भाई था अब भी वो वहां पैदा होता है लेकिन अब दुश्मन कराची वही है अहमदाबाद भी वही है जमीन कहीं भी बट नहीं गई लेकिन अब अहमदाबाद में बच्चे पैदा होंगे वो कराची के बच्चों की हत्या करेंगे और कराची में बच्चे पैदा होंगे वो अहमदाबाद के बच्चों की हत्या करेंगे ये क्या पागलपन है ये कौन सिखा रहा है भारत और पाकिस्तान और चीन और जापान ये सीमाएं कहाँ है ये सीमाएं सिर्फ विश्वास में नहीं मनुष्य का विचार लगेगा ये सीमाएं गिरनी हो जाएंगी हजारों सीमाएं हजारों झूठी बातें जिनमें कोई सच्चाई नहीं है वो आदमी को सिखा दी जाती है और आदमी पूरी में बंद के जी लेता है और जब पूरा समाज इस तरह की जिंदगी से बन जाता है तो क्रांति कैसे होगी शोषक नहीं चाहता कि विचार हो इसलिए मैं दूसरा सूत्र आपसे कहना चाहता हूं विश्वास नहीं चाहिए विचार विश्वास नहीं चाहिए संदेश विश्वास नहीं चाहिए अथक चिंतन की क्षमता अथक तर्क चाहिए जिंदगी को पूछने खोजने अन्वेषण करने का साहस और एक भी ऐसी चीज में मनुष्यता का अपमान है जो आपके विचार और आपके तर्क और आपकी बुद्धि के योग नहीं जो आपके तर्क आपकी बुद्धि की कसौटी पर कसी नहीं जाती है हिंदुस्तान में इसलिए क्रांति नहीं हो सकी कि विचार पैदा नहीं हुआ और इसीलिए विज्ञान पैदा नहीं हो सका क्योंकि विज्ञान भी विचार से पैदा होता है पांच हजार वर्षो में हमने कोई विज्ञान पैदा नहीं किया कोई साइंस पैदा नहीं किया साइंस पैदा होती है विचार से साइंस विश्वास से पैदा नहीं होती विश्वास करने वाले लोग न कोई आविष्कार करते हैं न कुछ खोज करते हैं न छिपे हुए जीवन के राज खोलते हैं ये तो आंख बंद करके विश्वास किए चले जाते हैं आंख बंद करके जीते हैं और मर जाते हैं पूर्ण जिंदगी एक खोज नहीं है पूर्ण जिंदगी एक अंधापन है एक अंधेरा हम विश्वास करने के लिए इस भांति तैयार हो गए इसलिए विज्ञान पैदा नहीं हो सका आज भी आज भी हम विज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं हमारे बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उनमें भी वैज्ञानिक बुद्धि पैदा नहीं हो रही साइंटिफिक माइंड पैदा नहीं हो रहा भीतर वही विश्वास करने वाला आदमी बैठा है बीएससी में पढ़ता है एक लड़का और परीक्षा के वक्त जाकर हनुमान जी के मंदिर के सामने हाथ जोड़ खड़ा हो है आश्चर्य इस लड़के को बीएससी तक पढ़ाना खिजूर गया मैं डॉक्टर के घर कलकत्ते में मेहमान वो डॉक्टर एफ आर सी पश्चिम से शिक्षा लेकर लौटे बड़े ठीक कीर्ति प्राप्त सज्जन शायद को मुझे मीटिंग में लेकर निकलते थे तो उनकी लड़की को छींका मुझसे कहा कि रुक जाए एक दो मिनट रुक मैंने उनसे कहा से आप तो बड़ी भांति जानते होंगे कि छींक क्यों आती है आप डॉक्टर हैं और आपकी लड़की के छींक आने से मेरे रुकने का तीन काल में भी कोई संबंध नहीं है और अगर तुम्हारी लड़की को छींक आने से मुझे रुकना चाहिए तो सारी दुनिया को रुक जाना चाहिए क्योंकि छींक आ गई इस दुनिया में चांददारों को ठहर जाना चाहिए सब ठहर जाना चाहिए तब तो एक मिनट कुछ काम करना मुश्किल होगा क्योंकि किसी न किसी को छींक आ ही नहीं वो कहने लगे मैं समझता हूँ कि चीख क्यों आती है लेकिन फिर भी रुकने में हर्ज ये विज्ञान चित्त कैसे पैदा होगा वो कहते हैं मैं समझता हूँ लेकिन लोगों ने हर्ज किया दो मिनट रुक ये भीतर बैठा है वही अंधविश्वासी भारतीय वही अंधविश्वासी समाज का टुकड़ा ऊपर से लीप पोट के आदमी को डॉक्टर बना दिया है भीतर ये आदमी वही का वही अभी मैं जलंधर में एक मकान का उद्घाटन करने गया एक बड़े इंजीनियर ने एक बड़ी कोठी बनाई है शायद उतनी सुंदर कोठी जलंधर में दूसरी नहीं होगी उनके मकान का फीता काट रहा था कि देखा कि मकान के सामने घंटी लड़की आदमी का चेहरा बना है बड़े बड़े बाल लड़के हुए मैंने पूछा ये क्या है वो कहने लगी कहीं मकान को नजर में रखे घंटी सिर्फ ठोकरने का मन होता है इस देश में क्या विचार कविता नहीं हो क्या इस देश के विचार की क्षमता बिल्कुल ही मर गई है पश्चिम से एक आदमी आया भारत दिल्ली नाम का डॉक्टर था उसने स्वामी शिवानंद की एक किताब पढ़ी उस किताब में स्वामी शिवानंद ने लिखा हुआ है कि ओम का पाठ करने से सब तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं यही नहीं ओम का पाठ अगर परिपूर्ण एकाग्रता और परिपूर्ण संकल्प से किया जाए तो मनुष्य मृत्यु को भी जीत सकता है स्वामी शिवानंद ने ऐसा लिखा है ऐसा नहीं और बहुत किताबें हैं जिसमें इस तरह की बातें लिखी हुई वो खुद कसूरदार नहीं है हमारे मुल्क में मौलिक भूल करने तक का कसूर कोई नहीं करता भूले भी दूसरे करते हैं उन्हीं को हम दोहराते दिल्ली ने किताब पढ़ी तो उसको पता चला कि स्वामी शिवानंद को तो पहले खुद भी डॉक्टर रह चुके हैं तो जब डॉक्टर रहने वाला आदमी ये लिखता है तो जरूर को सच्चाई की बात लिखता होगा को तो तथ्य की बात लिखता होगा वो बेचारा भागा हुआ ऋषिकेश पहुंचा कि जब ये सूत्र खोज लिया गया कि ओम के बाद से बीमारी दूर हो सकती है अगर इतनी बड़ी तरकीब खोज ली गई है तो इसको तो सारी दुनिया को सिखाना चाहिए और सब मेडिकल कॉलेज वगैरह सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि छोटा सा नुस्खा सारा काम कर देगा और हद की बात यह है कि लिखा है कि इसको जांच करने से मृत्यु तक को जीता जा सकता है तब तो दुनिया के सामने एक महान आविष्कार हो गया इस स्वामी शिवानंद को अब तक नोबेल प्राइज क्यों नहीं दी गई वो बेचारा भागा हुआ के पहुंचा जाके उसने एकदम से जाकर सर्जरी को स्वामी जी के पास जो मैं स्वामी जी की रखन करना चाहता हूं इसी वक्त सेक्रेटरी का अभी आप नहीं करते सकते स्वामी जी बीमार मारो और डॉक्टर उनकी परीक्षा कर उस आदमी को क्या गुजरी होगी विचार उसकी समझ के बाहर हो गया उसने कहा यह हो नहीं सकता कि स्वामी जी कभी बीमार पड़ जाए स्वामी जी ने तो लिखा है गोरू के पास से तो सब बीमारियां दूर हो जाए असंभव है ये बाद में उसने लिखा कि पीछे मुझे पता चला कि भारत के लोगों को तथ्यों के विचार से कोई संबंध नहीं वे कुछ भी कह सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं और हमारे मुल्क में किसी आदमी ने ऐतराज नहीं उठाया होगा इस बात पर कोई नहीं गया होगा आपको पता है चालीस करोड़ में से इसी केसेस की खबर करने के लिए ये जो बात लिखी है ये हो सकती है और अगर हम जाते भी और स्वामी जी बीमार दिखाई पड़ जाते तो हम कहते स्वामी जी लीला दिखा रहे हैं सोने की कभी बीमार कर सकते हैं सिर्फ लीला कर रहे हैं ताकि भक्तों की परीक्षा हो सके कि कौन विश्वास करने वाला है कौन संदेह करने वाला हम यही सोचते कि ये हमारे चित्र की कथा हो गई है हमने सोचना ही बंद कर दिया हम तथ्यों पर कोई ध्यान ही नहीं देते हमने जिंदगी से तर्क करने का संघर्ष बंद कर दिया हम बस बैठ गए हैं हम गोबर के पुत्रों की तरह बैठे रहते हैं कैसे क्रांति होगी क्रांति के लिए चाहिए तीव्र चिंतन तीव्र विचार तथ्यों में विचार थिंकिंग इन फैक्ट तथ्यों को खोज तथ्यों का देखना पढ़ना पहचानना जानना और बनी हुई धारणाओं के आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना जब तक कि तथ्यों की खोज पड़ताल से नई धारणा का सम्यक धारणा का जन्म न हो जाए विचार न करने से विज्ञान पैदा नहीं हुआ विचार न करने से जिंदगी को बदला जा सकता है ये ख्याल ही हमारा भूल गया और जब हमने विचार नहीं किया विश्वास किया तो उसका स्वाभाविक परिणाम हुआ भाग्यवाद कैटलिज्म जो समाज विश्वास करता है वो समाज भाग्यवादी हो जाता है क्योंकि विश्वास करने वाले आदमी को खुद तो कुछ करना नहीं पड़ता जो विचार ही नहीं करता वो और क्या करेगा फिर सब चीजें घटती में स्वीकार कर लेना पड़ता है कि भारत भी जो कुछ कर रहा है हो रहा है देश गुलाम हो जाए तो भारत देश दरिद्र हो जाए तो भारत देश मरे तो भारत जो भी हो भारत के भगवान कर रहा है और हमारा काम सिर्फ बैठ के देखते रहना जो हो रहा है उसे हम देख रहे हैं जिंदगी का कारवा इतिहास का रथ निकलता जाए हम किनारे बैठे दूर उसकी खाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि जो हो रहा उसे हम देख रहे हम किनारे बैठ गए रास्ते से के रास्ते पर उठ के वापिस खड़ा होना और खड़े होने के लिए दूसरा सूत्र है विश्वास को जहर कम दो विश्वास को छोड़ दो बिल्कुल भूल के भी कभी विश्वास मत करना संदेह करना बंद हिम्मत रख लेकिन जो आदमी संदेह करता है एक दिन संदेह गिर जाता है और देव का जन्म होता है जो आदमी संदेह नहीं करता ये भी बड़े मजे की बात कि जो लोग विश्वास करते अगर संदेह नहीं करते लेकिन उनका संदेह हमेशा बना रहता है उनका विश्वास होता है इसलिए भारत का व्यक्तित्व दोहरा हो गया है तीन तस्वीर हुई है भीतर संग्रह अंदर विश्वास किसी आदमी के भीतर जरा इसको भी थोड़ी चमड़ी निकालने भीतर बिल्कुल वो संदेह हो जाए पूरा विश्वास मैं अपनी ग्रहण जाता हूँ मेरे शिक्षा गुरु ने मेरे राष्ट्र में बढ़ाया जब ग्रहण जाता हूँ मेरे बात की जाता हूँ दो वर्ष पहले ग्रहण गया उन शिक्षक के पास गया दूसरे दिन सूर्य ने लिखी हुई है मंगल के दिनों कि आप कल से मेरे घर न बनाओ तो उन्होंने मेरी खुशी होगी बहुत सी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम आओगे तुम इस बार बहुत बड़ा करोगे कल सामने को मुझे बात हुई जब मैं रात भगवान की पूजा करने गया था तो मुझे शक हो गया कि कहीं मन की कहीं मेरे लोगों की भगवान रखकर अब मेरे घर में मैंने उन्हें सुरक्षित लेकर भेजी कि मेरी बात और होगा तुम नहीं होगा क्योंकि मेरी बात मुझे ये बताने होना जरूरी है कि जो संदेह मेरी बातचीत से आपके भीतर पैदा हुआ है वो सदा से आपके भीतर मौजूद रहा होगा मैं क्या संदेह पैदा रख सकता हूँ दुनिया में कोई